Bring it all together. Let's listen. नमस्कार माया जी आप कैसी हैं नमस्कार जय मैं अच्छी हूं और तुम मैं ठीक हूं मदन कैसा है वह कहाँ है आजकल मदन अच्छा है वह दिल्ली में है अरे वाह अच्छा है आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे भी अच्छा फिर मिलेंगे नमस्कार ठीक है नमस्कार नाउ लिसन एंड रिपीट नमस्कार माया जी हेलो माया आप कैसी हैं हाउ आर यू नमस्कार जय Hello, Jay. मैं अच्छी हूँ I'm well. और तुम And you? मैं ठीक हूँ I am fine. मदन कैसा है How is Madan? वह कहाँ है आजकल Where is he these days? मदन अच्छा है Madan is good. वह दिल्ली में है He is in Delhi. अरे वाह Oh, nice. अच्छा है That's good. आपसे मिलकर खुशी हुई Pleasure meeting you. मुझे भी Me too. अच्छा फिर मिलेंगे नमस्कार Okay, see you later. Bye. ठीक है नमस्कार Okay, bye.